श्रोताओं सहकार रेडियो पर आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपका दोस्त पवन साथियों समाज को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से दो रास्ते होते हैं एक रास्ता है समय समय पर समझौते करते हुए सुरक्षित तरीके से संघर्ष करने का जहां शांति अहिंसा या, या नियम कानूनों की बातें होती हैं और दूसरा है क्रांतिकारियों का बिना किसी समझौते वाला आर पार के संघर्ष का रास्ता जहां अपने शत्रु से संघर्ष करते हुए आवश्यकता अनुसार किसी भी हद तक जाकर यहां तक कि अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने शत्रु को पराजित करके अपने अधिकारों को हासिल करने और एक इंसान के रूप में पूरे सम्मान के साथ जिंदा रहने की कोशिश करते हैं भारतीय आज़ादी आंदोलन के दिनों में या किसी भी देश की जनता जब विदेशी या उनके ही देश के जालिम सत्तासीन शोषकों के जुल्मों से तंग आ जाती है तो मातृभूमि के ऐसे सपूतों की फौज निकल पड़ती है अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दें कि हम बात कर रहे हैं हर उस व्यक्ति की जो बिना जनता के हितों से समझौता किए किसी भी तरह से समाज में आमूलचूल यानी कि क्रांतिकारी बदलाव के पक्षधर हैं चाहे वो पत्रकार हों बुद्धिजीवी हों सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हों या छात्र व नौजवान हों तो इसी क्रम में आज से हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं देश दुनिया के जाने अनजाने महान क्रांतिकारियों व क्रांतिकारी विचारों के साहित्यकारों संस्कृति कर्मियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की कहानियाँ जी हाँ ये कार्यक्रम है किस्से क्रांतिकारियों के इसे आप सभी सहकार रेडियो के श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं पटना बिहार के साथी अमिताभ कुमार दास इसके लिए आप सभी श्रोताओं की तरफ से हम उन्हें धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम के तहत आज से हर शुक्रवार को आप सुनेंगे देश दुनिया के किसी महान क्रांतिकारी की कहानी आज आप सुनेंगे मैक्सिको के क्रांतिकारी एमिलियानो जपाटा की कहानी तो इसे सुनिए और पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिए साथियों नमस्कार सहकार रेडियो के लिए मैं पटना से अमिताभ कुमार दास आज मैं आपको साथियों एक बहुत महान क्रांतिकारी की कहानी बताऊंगा जिसके बारे में हिंदुस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है उस महान क्रांतिकारी का नाम है एमिलियानो जपाटा एमिलियानो जपाटा की कहानी जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको उनके देश मेक्सिको ले चलता हूं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है मेक्सिको जो संयुक्त राज्य अमेरिका से सटा हुआ है आजकल जब भी मेक्सिको खबरों में रहता है तो ड्रग माफिया की वजह से मादक द्रव्यों के कारोबार की वजह से लेकिन एमिलियानो जपाटा की कहानी शुरू होती है सन अठारह में जपाटा का जन्म मेक्सिको के केंद्रीय मध्य प्रांत मोरलोस में हुआ था मोरलोस एक पिछड़ा हुआ गरीब प्रांत है कुछ वैसा ही जैसे हिंदुस्तान में बिहार है और जपाटा का किसान परिवार था थोड़ी बहुत जमीन थी और जपाटा को बचपन से ही घोड़सवारी का बहुत शौक था इंसानों के साथ जपाटा का जितना समय बीतता था उससे ज्यादा समय घोड़ों के साथ बीतता था और धीरे धीरे जपाटा इतना अच्छे घुड़सवार हो गए कि पूरे मोरलॉस प्रांत में लोग उनको जान गए एक बेहतरीन घुड़सवार के रूप में और एमिलियानो जपाटा को एक बहुत ही अमीर आर्मी के अस्तबल में नौकरी भी मिल गई उनका काम था उस अमीर आर्मी के घोड़ों की देखभाल करना लेकिन एमिलियानो जपाटा की जिंदगी में उस वक्त एक बहुत बड़ा तूफान आ गया जब मेक्सिको के पूंजीपतियों ने मोरलोस के छोटे मोटे किसानों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया मोरलॉस के ज्यादा किसान बहुत गरीब किसान थे जिनके छोटे मोटे खेत थे और उन खेतों में वो मुख्यतया मकई की खेती करते थे मकई यानी मक्का और मक्के की खेती करके ये जो गरीब किसान थे किसी तरह अपना पेट पालते थे मकई की रोटियां बना के मकई के दूसरे पदार्थ बनाकर लेकिन पूंजीपतियों की नजर इनके खेतों पर लग गई और मेक्सिको के पूंजीपतियों ने इन गरीब किसानों को इनके खेतों से बेदखल करना शुरू कर दिया पूंजीपतियों ने गरीब किसानों की जमीन छीन ली और उनके खेतों पर मकई की जगह वे गन्ने की खेती करने लगे गन्ना यानी सुगर केन जिससे चीनी बनती है इन पूंजीपतियों के साथ ये फायदा था कि इनकी अपनी चीनी मिले थी सुगर मिल्स थे ये जिस गन्ने की खेती करते थे उस गन्ने को अपने ही मिलों में भेज देते थे उनसे चीनी बनती थी और उस चीनी का निर्यात ये संयुक्त राज्य अमेरिका कर देते थे यूएसए को चीनी का निर्यात करते थे और इन पूंजीपतियों को बहुत ज्यादा मुनाफा होता था लेकिन पूंजीपतियों के इस मुनाफे के चक्कर में जो गरीब किसान थे वो भूखों मरने लगे अंत में मोरालॉस के लोगों ने सोचा कि अपनी बात मेक्सिको के राष्ट्रपति तक पहुंचाई जाए तो एक शिष्टमंडल तैयार हुआ जपाटा भी उसके सदस्य बने और जो उस समय मेक्सिको के राष्ट्रपति हुआ करते थे उनके पास ये शिष्टमंडल गया ये डेलीगेशन गया मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी वहां राष्ट्रपति भवन में जाकर किसानों के इस डेलीगेशन ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और कहा कि राष्ट्रपति को मोरलॉस के भूखे मर रहे किसानों के लिए कुछ करना चाहिए लेकिन हालात ये थे कि उस समय भी जो मेक्सिको की हुकूमत थी जो मेक्सिको के राष्ट्रपति थे वो भी पूंजीपतियों की जेब में ही थे तो राष्ट्रपति महोदय ने गरीब किसानों की बातें सुनी लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दी इसके बाद हालात बर्दाश्त के बाहर होने लगे तो एमिलियानो जपाटा ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक गुरल्ला आर्मी तैयार कर ली यानी ऐसी सेना जो छापामार युद्ध लड़े और इन लोगों ने पुराने तरीके के हथियारों के साथ ही पूंजीपतियों का मुकाबला करना शुरू किया सबसे पहले इन लोगों ने पूंजीपतियों की अनेक चीनी मिलों में आग लगा दी जहां चीनी बनती थी उन मिलों को ही जलाकर राख कर दिया गया फिर एमिलियानो जपाटा की जो किसान सेना थी उसने बहुत सारे ऐसे खेत जो पूंजीपतियों ने हड़प लिए थे उन खेतों पर कब्जा कर लिया और उनको फिर से उनके जो मालिक थे उनके बीच बांट दिया जब एमिलियानो जपाटा का किसान विद्रोह पूरे मोरलोस प्रांत में फैल गया तो मेक्सिको की जो हुकूमत थी उसने अपनी सेना को उस किसान विद्रोह को कुचलने के लिए मोरलोस प्रांत भेजा किसानों और फौज के बीच संघर्ष हुआ उस संघर्ष में सैकड़ों किसान शहीद हुए एमिलियानो जपाटा भी कई बार मौत के मुंह में आते आते बचे लेकिन किसानों का ये विद्रोह चलता रहा चलता रहा और लगभग नौ वर्षों तक किसानों ने पूंजीपतियों के और सरकारी फौज के छक्के छोड़ा दिए इसके बाद जब हुकूमत ने देखा कि जपाटा को आमने सामने की लड़ाई में हराना मुश्किल है तो हुकूमत ने जपाटा को छल कपट से हराने की सोची और एक फौजी जनरल ने जपाटा के पास ये प्रस्ताव भेजा कि वो जनरल अपने हथियारों के साथ जपाटा की सेना में शामिल होने के लिए तैयार है एमिलियानो जपाटा उस धूर्त जनरल की बातों में आ गए और जपाटा ने बिना खास एहतियात बरते हुए उस जनरल से जाकर मुलाकात की और उसी मुलाकात के दौरान उस जनरल के साथियों ने एमिलियानो जपाटा को गोलियों से छलनी कर दिया ये बात 1919 की है जब जपाटा की उम्र मुश्किल से 40 बरस की थी एमिलियानो जपाटा शहीद हो गए लेकिन मेक्सिको के इतिहास के सबसे महान क्रांतिकारियों में उनका नाम शुमार हो गया एक दिलचस्प बात यह है कि जब जपाटा का जन्म हुआ था तो बचपन से ही उनकी छाती पर इंसानी पंजे की आकृति थी इसलिए गांव के लोग मानते थे कि इस बच्चे में कुछ चमत्कार है ये चमत्कारी बच्चा है और जपाटा की मौत के बाद भी उसके साथियों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि जपाटा की मौत हो चुकी है उसके साथियों ने कहा कि जपाटा अपने घोड़े के साथ पहाड़ों में चले गए हैं और वे फिर पूंजीपतियों का मुकाबला करते रहेंगे जपाटा इतनी बड़ी हस्ती बन गए कि हॉलीवुड ने उन पर फिल्म बनाने का फैसला किया और फिर एक फिल्म तैयार हुई जिसका नाम है वीवा जपाटा इसमें हॉलीवुड के बहुत मशहूर स्टार थे मार्लन ब्रांडो उन्होंने एमिलियानो जपाटा की भूमिका की और इस फिल्म को अमेरिका में भी लोगों ने खूब पसंद किया तो साथियों ये थी बहादुर क्रांतिकारी एमिलियानो जपाटा की कहानी अगले सप्ताह किसी और महापुरुष किसी और क्रांतिकारी की कहानी लेकर मैं आपके समक्ष आऊंगा तब तक के लिए अमिताभ कुमार दास को आज्ञा दीजिए नमस्कार तो श्रोताओं सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे मैक्सिको के क्रांतिकारी एमिलियानो जपाटा की कहानी आवाज थी पटना बिहार से साथी अमिताभ कुमार दास की कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं भेजकर इसे और बेहतर बनाने में हमारी मदद करें तो अगले हफ्ते ऐसे ही किसी क्रांतिकारी की कहानी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए विदा अपने दोस्त पवन को नमस्कार